और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी कुरान जो उस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है तो उनका तर्ज अमल देखो बावजूद कि ये खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे मगर जब वो चीज़ उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो उसका इनकार कर बैठे पस फिटकार है अल्लाह की ایسے کافروں پر